और क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम पानी को खींचकर खुश्क जमीन की तरफ ले जाते हैं फिर उससे वो खेती निकालते हैं जिससे उनके चौपाए भी खाते हैं और वो खुद भी तो क्या उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता